अनकरीब देहातियों में से पीछे रह जाने वाले लोग कहेंगे कि हमारे मालों और हमारे घर वालों ने हमें मशगूल कर रखा था तो आप हमारे लिए बख्शिश मांगें ये लोग अपनी जबानों से वो बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं हैं आप फरमा दें कि कौन है जो अल्लाह के सामने तुम्हारे लिए कुछ भी इख्तियार रखता हो अगर उसने तुम्हारे किसी नुकसान का इरादा फरमा लिया हो या तुम्हारे नफे का इरादा फरमा लिया हो بلکہ اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو